इस देशक में अभाव है मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुख्य प्रयोजन मोक्ष प्राप्ति ईश्वर प्राप्ति अपवर्ग प्राप्ति ये पर्यायवाची शब्द मंत्र का पाठ सरल भाषा में है अभी अभी बड़ी उत्साही घटना देखी आपने बच्चा जो भी भाषा भी नहीं बोलना जानता था इतनी अच्छी तरह कितना तेजी से मंत्र बोलता था अभी उससे बातचीत कर रहा था ऐसा भी चित्र बच्चा है ऐसे संस्कार लेके आया फिर दूसरा बालक भी कोई कम नहीं था उसने और ऊंचे स्तर पर छंद सही लय सही और उसने उनको सुनाया तो अब हम मंत्र पाठ करेंगे मंत्र पाठ क्या है वेद है इसका क्या अर्थ है ये है अहम क्या है एकम इसको पुरुषम महानतम एक ही बात है सब में एकम पुरुषम महानतम द्वितीय एक वचन आदित्य वर्णम ये भी उसी के साथ जुड़ गया यहां तक तो एक ही बात चलेगी वेद अहम मैं जानता हूं एकदम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम आदित्य के समान जो ज्ञान स्वरूप है वो भौतिक जगत में अरे आगे कैसा है ये तमसह परस्तात अज्ञान से सर्वथा रही तमसह परस्तात तम सौ से तम तौ तम एव इसका क्या अर्थ है तम एव उसी को ही क्या अर्थ हुआ तम एव उसी को ही विदित्वा जान करके अति मृत्यु में भी मृत्यु का उल्लंघन अतिक्रमण कर जाता है अति मृत्यु ए ही मृत्यु से पार हो जाता है ठीक है ना नहीं अन्य दूसरा पंथा मार्ग विद्यते है आय नाय मोक्ष के लिए और कोई भी मार्ग ये वेद का नहीं आगे आप वेद समझ में थोड़ा सा अब इसको धन के रूप में Oh. सीधा एक दूसरे माता इसलिए बुद्धिमान लोग विद्वान लोग ये कहा करते हैं भारतीयों सभी को कम से कम थोड़ी बहुत संस्कृत तो आनी ही चाहिए अब हम मंत्र को लेते हुए विवेचन करें ये योग शिक्षण शिविर लगाते हैं इसमें दर्शनों को भी पढ़ाते हैं विविध प्रकार से साधकों को हम तैयार करते हैं इसमें वैदिक योग शिक्षण शिविर या वैदिक योग प्रशिक्षण में कोई अधूरापन कोई लंगड़ापन नहीं की बात सुनेंगे योग की बात सुनेंगे प्राय ये सोचते हैं कि योग का अर्थ है कि जन वृक्ष पर बैठते थे वहीं सोचते वहीं रहते और वहीं व्यक्ति कर देते और लोग कहते बड़ा सिद्ध इनका दिमाग जो है इतना भक्ति की और भक्तों की पहचान करनी हो तो पागलपन को देख दिल्ली के बीचों बीच बिल्कुल नंद धड़े व्यक्ति जा रहे हैं और आगे पीछे चावल जो होते हैं वो डोल रहे आगे पीछे पाए और वो बीच में नंद धड़े जा रहे तो ऐसी चर्चा चलते चलते गई लोगों के पास वही कपड़े तो पहन लेते कम से कम ये नंगे क्यों रहते उन्होंने कहा कि बात ये है ये जो नंगा नहीं लग जाता है बिल्कुल वो सिद्ध हो जाता है ये पहचान है जब नंगा रहने लग गया तो समझो तो ये सिद्ध हो गया हमने सोचा गधे बोले सारे ही नंगे हैं गरीब नंगे फिर बड़ी विचित्र बात है मां से बच्चा जन्म लेता है और नंगा ही होता है तो तुम आत्मा से जो उसको खिलाने पिलाने की कोई जरूरत नहीं होगा तो बड़ी विचित्र परिभाषा है और दादी बड़ी बिटी हो जाए और कुछ टीका टिप्पणी कर ले वो और ऐसा जुल कुछ जब बोले और गाली भी दे कहते बस बस ये पहचाने योगी की यदि ऐसा योगी का रवाना हो तो ऐसा होना तो समझ रहे ये वैदिक परंपरा वैदिक योग ऋषियों की परंपरा है कभी पूछिए कभी सोचिए बात कीजिए हम वही उत्तर देने का प्रयास करेंगे जो लाखों करोड़ों वर्षों से चला है जो लोग नहीं समझते दिमाग कुछ जानबूझ के गड़बड़ करते हैं वो लोग आरोप लगाया करते हैं हमारे ऊपर कहते हैं कि देखो भाइयों ये ऋषियों से विरुद्ध कर रहे हैं ये ऋषियों के देखो ये भी इनकी बात विरुद्ध है ये भी इनकी बात विरुद्ध है और ये भी विरुद्ध है याद रखना जो हम विवेचन करते हैं किसी की हिम्मत नहीं वो हमारे इन बातों का खंडन करके दिखा हैं तो कहने का तात्पर्य है हम केवल वही काम सिखाना चाहते हैं उसी पर चलना चाहते हैं जो आदि सृष्टि से लेके आज तक या महर्षि दान ऋषियों की जो परंपरा में आया वही सिखाएंगे और यदि कोई मनुष्य भूल होती है तो हम भूल करेंगे तत्काल मानेंगे पर कहने से धमकाने से किसी की बात नहीं मानेंगे याद रखें सारा संसार एक और खड़ा हो और बिना प्रमाण के कोई बात स्वीकार करवाना चाहिए कभी नहीं करें तो याद रखो ये सर्वानुपूर्ण वैदिक योग यदि घरों में समाज में और राष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्रों में विद्यालयों में उसको लागू कर दिया जाए तो ये संसार आज स्वर्ग बन जाए स्वर्ग संपन्न और उसके पश्चात अभ्युदय के पीछे मोक्ष के प्राप्त करने वाले इसमें पैदा हो ये वो योग है वैदिक योग आपको इसके मूल्य का पता कम होगा क्योंकि आपकी अनुभूतियां बड़ी कम है बहुत अध्ययन इतना मंथन किया गया है अर्थात वैदिक योग को सीधा अनुभव करने वाला व्यक्ति या मैं सीधे शब्द में कहूंगा ईश्वर साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भूगोल में ढूंढने से कोई बदला मिलेगा मुश्किल कितने मिलेंगे बताओ आप ही बताओगे आपको तो पता नहीं होगा या होंगे अपने अपने मत वाले कहते हैं हमारा गुरु सिद्ध है इसको ब्रह्म के दर्शन हो चुके वो कहता इसकी समाधि लगी हुई है इसको ब्रह्म के दर्शन जितने संप्रदाय वाले होंगे वो आप अपने गुरु को बिना साक्षात्कार के नीचे कोई कहने के लिए तैयार नहीं है हमारे गुरु तो पहुंचे हुए हैं और उनको ईश्वर का दर्शन हो चुका है मुझे भी कई बार पूछ लेते हैं कि आप बताओ आप गुरु भगवान का दर्शन हुआ अच्छा भगवान का दर्शन हो जाए तो उसको बताना चाहिए क्या हम्म? अब उत्तर आपका कम ही आया अच्छा आपने ये नहीं सुना कि भाइयों साक्षात्कार कर लेता तो वो कभी नहीं कहता कि मैंने भगवान को जाना ये नहीं सुना ये धर्म है एक तरीके बोले हाँ सुना है ना सुना है ना पढ़ा भी होगा तो ये कहते हैं कि भगवान को जो जान लेता है पा लेता हूं कभी भी नहीं कहता कि मैंने भगवान को पा लिया अब बताओ इनकी बात माने या क्यों नहीं माने वो अलग विषय हम तो एक ही एक ही बिंदु ले रहे जो सिद्ध ईश्वर है उसी की चर्चा है असिद्ध की चर्चा ही नहीं वैदिक ईश्वर किसी ने जाना साक्षात्कार किया उसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बताइए आपको ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ अब प्रश्न सामने आया टेढ़ा प्रश्न है क्या वो ये कहे कि मैं ईश्वर को मैंने देख लिया है साक्षात्कार कर लिया है ये कहना अच्छा है या ये कहना अच्छा है कि मैंने तो बिल्कुल नहीं किया या बोल रहना अच्छा है एक एक समय आप बोलेंगे तो दूसरा बंद रहेगा बाजार कब रहेगी देखा ना दो दो राय बराबर पड़ गई नहीं अपना क्या किसान आप मनवाइए नहीं किसी से मनमाना किसी के लिए नहीं है आप कह दीजिए कि भाई ये अच्छा है या जाके नहीं बोलना कुछ या कोई प्रतियोगिता नहीं है ये तो अध्ययन है आपके दिमाग का विलोडन है आप इस विषय में क्या सोच सकते हैं उन चीजों को निकाला जा रहा है हाँ हाँ जी एक व्यक्ति खड़े आप बोलिए साक्षात्कार हो ही नहीं सकता अच्छा अब दूसरी तुलना होगी ऋषि लिखते हैं मानते हैं ईश्वर का साक्षात्कार होता है अब उनकी बात माने या ऋषि मैं बीच में नहीं बोलना अब उसका अध्ययन किया वेद सामने आया वेद ने कहा वेदा वेतम तो पुरुषम मानतम अथवा तद विष्णु कर्म पदम सदा पश्यंती सूर्य सीधा शब्द उस विष्णु परमात्मा के पद को स्वरूप को सदा पश्यंती सूर्य विद्वान लोग सदा देखते एक नहीं मंत्रों का एक पुस्तक भरी जा सकती है उपनिषदों की पश्यती जानाती अनुभवती सब लिखा तो इसमें कोई संदेह नहीं है वेद की घोषणा है और उपनिषदों की घोषणा है मैं सिद्धांत की घोषणा है अंतकरण के माध्यम से बुद्धि के द्वारा जब परमात्मा में तत्पर होता है तो परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है ये सीधा प्रकार में देखा इसलिए ये निर्विवाद सिद्धांत है ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है लंबी चर्चा मैं नहीं करूंगा एक बात उसके उत्तर में दे देता हूं जिस वस्तु में जो गुण होते हैं वह वस्तु उसी के द्वारा प्रत्यक्ष होती है ध्यान से सुन लीजिए जिस वस्तु में जो गुण होते हैं वो वस्तु उन्हीं के गुणों के द्वारा प्रत्यक्ष होती है अन्य गुणों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होती अथवा जिस वस्तु में जो गुण है उनका साक्षात्कार होना उस वस्तु का प्रत्यक्ष कहलाता है साक्षात्कार कहलाता है ईश्वर में आनंद ज्ञान बल है वो आनंद ज्ञान बल वाला ईश्वर ज्ञान के माध्यम से प्रत्यक्ष होता है उसमें कोई संदेह नहीं साकार वस्तु प्रत्यक्ष होती है रूप के माध्यम से रूप गुण है उसमें यदि साकार वस्तु कोई निराकार देखना चाहे तो नहीं देख सकता तो समझ मारे बात साकार वस्तु को कोई निराकार देखना चाहे तो कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकता क्यों इसमें गुण साकार है और परमात्मा में रूप है नहीं परमात्मा का जो रूप देखना चाहे रंग के रूप में कभी नहीं देख सकता और उस गण के साथ जोड़िए जिस वस्तु में जो गुण होते हैं उन गुणों से ही उस वस्तु का प्रत्यक्ष माना जाता है देखना माना जाता है आपने एक ग्रास खाया शाक और उसमें नमक अधिक था हाँ, ठीक है आपको पता चला नमक अधिक है नमक का प्रत्यक्ष हुआ अधिक है बोली हाँ, हाँ। हुआ वो साकार है निराकार गिरते देखो देखो इसमें नमक अधिक तो नहीं है देखो देखो इसमें नमक अधिक तो नहीं है तो एक इंद्रिय का विषय है इसलिए वो समस्या आपको समझ में आ गई होगी जो पदार्थ तीन गुणों वाला है उन्हीं गुणों से उसका प्रत्यक्ष होता है और उसका कोई प्रकार नहीं और निराकार जिमाकार नहीं वस्तु प्रत्यक्ष होती है ईश्वर भी प्रत्यक्ष होता है आत्मा भी प्रत्यक्ष होता है हम सम, उस समस्या खड़ी हुई थी उसका समाधान है हम कहां चल रहे थे देख लेते एक समय तो एक बालक का नाम था वेगा क्या नाम था वो कौन से का था अभी जो मंत्र सुना रहा उसका नाम था वेद और ये वेद शब्द वेद का और वेद में क्या आया वेन तपश्यंगुभावसत ये वेद जो व्यक्ति है गुहा में बैठे भगवान को देखता गुहा जीवन गुहा प्रकृति उस गुहा में गुफा में भगवान को वेन पश्य ये देखता है चलो मैं वहीं चलता हूं विषय पर आता हूं उसमें क्या था कर, कर लेता है वह ये बताए या न बताए पूछने पर जिज्ञासु को कि आपको ब्रह्म का प्रत्यक्ष हो गया है और एक ने कहा मौन रहना चाहिए एक ने कहा कि बता देना चाहिए और तीसरे ने कहा कि झूठ बोल देना चाहिए ये कहे कि मुझे नहीं हुआ समस्या खड़ी होगी यम नियमों का पालन करना है हमने तो और विद्यार्थियों को भी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाना भी है वो मानेंगे कभी नहीं आचार्य जी पता हो आपको दिखाई दिया नहीं दिया अब कैसे छुपेंगे हम कहां भागेंगे पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं मंत्र पाठ कर दिया चेला चेली को और कहना कुछ ना कुछ नहीं फिर कह दिया कि ये मत कहना कि मैंने भगवान को देख लिया मैंने कहा कि आप किसी को पढ़ाते नहीं लिखाते नहीं विद्यालय आप चलाते नहीं है आप ये कहेंगे हमारे सामने समस्या है जब भी प्रकरण आएगा और वो विद्यार्थी पूछेगा कि आचार्य जी गुरु जी ये बतलाइए भगवान का आपने साक्षात्कार किया है नहीं किया अब बताओ मैं क्या उत्तर दूंगा अभी कई मत आगे खड़े हुए एक कहता था रहे रहो दूसरा कहता है कि बता दीजिएगा तुम और तीसरा कहता कह दो मुझे मुझे मुझे हुआ ही नहीं ऐसी कठिन समस्या आई सामने अब बहुत व्यायाम हो गया बुद्धि का उत्तर देता हूं निर्णय देता हूं जिज्ञासु को योग्य को अपात्र को छोड़ दो अवश्य ही बताना चाहिए न पूछे तो भी बताना चाहिए कि मैंने ब्रह्म का प्रत्येक कर लिया ये हिसाब जिन लोगों की साधना नहीं वो जान जान पहचान नहीं वेद का अभिप्राय नहीं वो डींग मारते हैं खान का बकवास करते हैं इधर कहते हैं उधर कहते हैं उपनिष्ठ में लिखा है केन प्रति में लिखा है वो लिखा देखो जी जिसको भगवान के दर्शन हो गए वो कभी नहीं कहेगा कि मैंने भगवान को जाना है मैंने कहा ये कहेगा नहीं जाना है यही तो बात आएगी नहीं जाना तो मिथ्यावादी है वो जो कहता मैं जानता है कहे वह नहीं जानता मिथ्यावादी है है और मौन रहना तो चालाकी एक प्रकार की व्यक्ति पात्र सामने पूछ रहा है कोई अपात्र हो तो मत बोलो मौन रहो यदि पात्र पूछ रहा तो उसको उत्तर क्यों नहीं दोगे आप चंद्रमा में जाने वाले चंद्रमा में गए और चंद्रमा की धूली जाके रख दी हमने देखी रूस के लोगों की धूली लाई हुई भीड़ की बड़ी पहनकर चंद्रमा में ये ये ऐसी मिट्टी है या उसको क्या पाप लग गया चंद्रमा में गया था मिट्टी जाके दिखाई कि मैंने चंद्रमा में देखा कौन सा पाप लग गया पाप होया पुण्य होया भले व्यक्ति दिमाग से काम लो भगवान को जान लिया तो ये कहो मैंने भगवान को जान लिया और मुझे ये उपलब्धियां हुई मुझे ज्ञान आनंद मिला समाधि में मुझे आनंद ही आनंद रहता है कलेश बिल्कुल नहीं सताते काम करो तो लोग को मैंने जीत डाला है और तुम भी ऐसा ही करो इनको बिल्कुल पता नहीं लोगों को बेकार की बात करते रहते हैं और कहते देखो जी जो ये कहता है भगवान को मैंने जान लिया वो झूठा है और जो ये कहते हुए भाई मैंने भगवान को बिल्कुल नहीं जाना है मैं कुछ नहीं जानता और मैं तो मूर्ख हूं उसको कहेंगे प्रेम देता लोगों ने बड़ी चालाकी चली गुरुम वाले गुरुम वाले बैठते हैं मंच पर और उपदेश देते हैं चेला चेली आदि जो भी भाइयों बहनों पागल ब्रह्म बहुत दूर की चीज है मैं कुछ नहीं जानती नीचे तो ये जाता माला डाले और ऊपर से ये कहता मैं माला नहीं चलाना चाहता ये अभिमानी है निकल तो गया बुरा विद्वान बना और पैर छू के नमन दे सबको देखता है नहीं देख रहे हैं सब पैर छू देखो कितना विद्वान है तो भी पैर छूता ये चालाकी की भाषा है सर याद रखिए वेद का ये निर्णय है सरकार कुछ कहे तो कहे विरुद्ध है वेद ये वेद ने निर्णय दे दिया है वेदा हम एकदम पुरुषम मानतम मैं सिद्धांत की व्याख्या देख लेना अच्छी तरह लिख रखी हो तो ये देखना ये घोषणा करता है ईश्वर को जानने वाला वेद हम एकदम पुरुषम मानतम मैं इस महापुरुष को जानता हूं और तुम भी जानते वेद का मंत्र ही पढ़ लेते कम से कम वेद कहता है एक नहीं इतने मंत्र मिलेंगे दूसरा यजुर्वेद का एक मंत्र और है इसी ढंग का सीधा कहता है वेदा अंगेतम पुरुष होने से ना भी वेद है मैं जानता हूं होने से ना भी हूं संसार की जो नाभि है ईश्वर मैं उसको जानता हूं ये यजुर्वेद का मंत्र जब कहते चले जाइए आगे बढ़ जाइए ऋषियों की उसमें प्रणाली में मैंने कथा सुनाई थी यज्ञ में लग के ऋषि की उस के लिए ऋषि ने इतने विद्वानों के बीच में ये घोषणा करने की आवश्यकता थी कि आप में से ब्रह्म व्यक्ता कौन है किसी ने कुछ नहीं कहा चुप थे सारे के सारे और एक ऋषि ने कुछ घोष किया कि ब्रह्मचारियों ले जाओ गौओं को अपने आश्रम में घोषणा कर दी ब्रह्म व्यक्ता हूं गौ को ले गए यहीं तक नहीं आगे चल करके दग्ध साकर के प्रश्न उठाता है वहां पर उसी प्रकरण में हे याज्ञवल्क के तू इन विद्वानों का धन ये संपत्ति ये सारा दान दक्षिणा झूठ बोल के तो नहीं ले रहे क्या कहा तू ब्रह्म देता तो है नहीं तू झूठ बोल के मैं लेता हूं ये दान दक्षिणा छीन रहे विद्वानों की ऐसी बात है क्या ऐसी तो नहीं है उसने उत्तर दिया था वेदन एक सूत्र से सूत्र मंत्र यानी सूत्र के सूत्र को अंतर्यामी को मैं जानता हूं ये ऋषि की बात है और सुन लो नचिकेता का प्रकरण कठोपनिषद प्रसंग आया है हे नचिकेता मुझ जैसा प्रेम देता तुझे मिलना मुश्किल है बल्कि और आगे बढ़ दो नहीं मिलेगा ऐसा भाव उसका बल्कि यहां तक पहुंचा मैं जो प्रेम देता हूं तुझे तो देता है नहीं मिलेगा और अगली पकड़ और सुन लो उसने सीधी बात कही वही अन्य कई साधन प्राप्तवान अश्विन नित्यम क्या कहा अनित्य साधनों से मैं उस नित्य ईश्वर को प्राप्त कर चुका हूं तो लंबा प्रकरण हो ये बातें भ्रमित करने वाली होती है ये प्रकरण ठीक है अपात्र है दुरुपयोग करता है कर डालेगा उसको ये विद्या ने बताओ क्योंकि ये दुरुपयोग करे अपात्र की बात जिज्ञासु है पात्र है तो न पूछे तो भी बताओ किसी ने कहा जिज्ञासु को तो बिना पूछे भी बताओ और छर कपट से जैसे कोई पूछ रहा और हमको पता चल जाए तो वो मौन है कुछ यहां तक तो ठीक है परंतु ये भ्रांत मिथ्या धारणा इतना आघात हो जाती है इस राष्ट्र को झूठ बोलना सिखाती है झूठ बोलने को प्रेरणा देती है ऋषि भी झूठ बोलते हैं जानते हैं कहते हम नहीं जानते अब बताइए योग दर्शन तो काल कहता है जाति देश काल नुमा छन्ना सार को घुमा महावर्तम योगी बन ही नहीं सकता जाति देश काल का उल्लंघन करके व्यक्ति सत्य बोलता है सदा वही ईश्वर की प्राप्ति करता है और यदि ये बात मान ली जाए कि वो कहता है जानता हुआ कहता मैंने नहीं जाना तो मिथ्यावादी है वो खाना वो योगी इसलिए मिथ्या खाना सारी इंसान हमारे सामने रोज प्रश्न आते हैं जिनके हम उत्तर देते हैं और लोगों को आग लग जाती है सीधा उत्तर देते हैं हमारा ज्ञान काम करता है बताइए ईश्वर का प्रत्यक्ष हुआ अभी अरुण आए थे जम्मू अभी जो बड़े उत्साहित थे बड़े इनके पिताजी ने सीधी बात पूछ ली कि लोग कैसे भगवान का दर्शन क्या क्या उत्तर दो मैं बोलो मैंने कहा होता है पता नहीं कितने लोग पूछते हैं जब ये बात कही गई आज की नहीं है चालीस अड़तालीस वर्ष पहले ये कहता आ रहा आज की बात नहीं है पचास लड़की लोगों के मन में वो नहीं सहन कर सकते इसको तो मेरा मतलब इससे है वस्तु स्थिति यह है ईश्वर का प्रत्यक्ष हो जाए तो मेरा पीछे भी जिज्ञासु को बताओ इस भ्रांति को दूर कर दो मिथ्यावादी की बात और ही मानव का लक्ष्य है आपने सुना और एक बार ही हजार बार सुनिए मंथन कीजिए निर्णय करते चले जाइए व्यक्ति के सामने दो लक्ष्य बने रहते हैं या तो भोग लक्ष्य बनेगा या योग लक्ष्य बनेगा बीच में खड़ा नहीं रह सकता व्यक्ति वैदिक परंपरा में भोग को लक्ष्य कभी नहीं माना जाता न माना जाना चाहिए खाने पीने की चीजें खूब खाओ उसका कोई प्रतिरोध नहीं कुछ बात नहीं लक्ष्य बना के करना कि मैं ऐसी चीजों को खाऊंगा लौकिक भोग भोगूंगा ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं आज विश्व चपेट में है इसकी बिल्कुल तूफान की तरह भागा जा रहा है विश्व और उसमें कोई बिरला ही व्यक्ति आपको मिलेगा जो खड़ा हो और ये कहता हो मैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए लगूंगा और एक भोग विलास को ठोकर मारूंगा ऐसा करोड़ों में एक व्यक्ति मिलना मुश्किल है विश्व की दुर्गति का कारण क्यों विश्व भोगों को पा करके आज तक लाखों करोड़ों पीछे चले गए इसे टीके आदि का कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त कर सारी दुनिया की धन संपत्ति लेकर के भी आज तक कोई भोगों से तृप्त हुआ नहीं देखा असंभव बात जिसके करने से तृप्ति ही नहीं है उसको लक्ष्य बना के चलना अज्ञान और पागलपन की बात नहीं तो कुछ भी नहीं लक्ष्य क्या है मानने का सारे दुखों से छूट जाऊं और नित्य आनंद को प्राप्त हो जाऊं दुख रहित ऐसी स्थिति बनाना लक्ष्य है ये लक्ष्य भोगों में से नहीं होता तो क्यों लक्ष्य बनाए हम दौड़ लगाते रहिए विश्वास सुना जाता है समय जो है गंजा होता है पीछे से आगे बाल होते तो समय को पकड़ना हो तो क्या करोगे आगे से पकड़ो और पीछे से क्यों नहीं पकड़ा जाएगा गंजा ये भोग गंजे नहीं गंजे भोग गंजे हैं बिल्कुल पकड़े नहीं जा सकते मारते रहे बात लाखों जन्म जन्मांतरों गंजे हैं सारी के पकड़ते जाओ भागते जाएंगे पकड़ते जाओ भागते जाएंगे पकड़ भाई कहीं टिकाओ टिकाओ है नहीं कहीं पानी की झाल की तरह ऐसी तो याद रखो ये भोगवादी उन्हें केवल भोगवादी और केवल भौतिकवादी जो ईश्वर आत्मा को नहीं मानते पुनर्जन्म को नहीं मानते पाप पुण्य को नहीं मानते और मानव जीवन के मनमाना धर्म मानते जैसा मनुष्य चाहे वही धर्म ये सब के सब दुर्गति को प्राप्त होते और आज अन्य जगत को उसी स्थिति में ले जा रहे अब इसको रोकना हमारा काम ये संसार ईश्वर ने बनाया है ईश्वर का संचालन करता है ईश्वर इसको बिगाड़ता है अनादिकाल से चला प्रवासी अनंत काल तक चलता रहेगा इन लोगों की बात माने हम भगवान की माने कोई मतलब ही नहीं व्यक्ति की बात मानने का इसके क्या अगर दो हड्डी है कर वहीं चलता दिखाई देगा थोड़ी देर ये बूढ़ा व्यक्ति है जवान है बूढ़िया है रात दिखाई देगी क्या मानेंगे इसकी बात तीन काल में खंड एक रस भगवान है सदा हमारा एक माता पिता आचार्य गुरु सब कुछ है उस जैसा एक ऐसी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता हम तो उसकी बात करते और उसके विरुद्ध जो चलेगा उसका नहीं करेंगे उड़ा के नहीं छोड़ेंगे ये काम करना हमें तैयार हो जाओ और वास्तव में जीना इसी का नाम मन की तेरिया जिसने जीना तो इसी का क्या काम है मन की जीना तो बस अमृत तो इसको जिसे मन नहीं देता बेकार आपने ये देखिए खाना में से दिया आगे तो बैठ गया उत्तर कुछ नहीं देता जो उत्तर नहीं देता कम सुनता हो वही आगे आगे बैठ कुत्ते की कूद होती है बेचारा वो ऐसे ही चक्कर कटा देता है थोड़ी देर में देखा एक दिन हमने सुना कल्पना की अथवा चक्कर भी दिया हुआ दो सब तरह के हैं उस कुत्ते की कूद को टेढ़ी देखी लेकिन सीधा करना चाहे रबड़ की नदी बना दिया छह महीने लग जाती है महीने का निकालते वही टेढ़ी निष्कुश काल तो भाई काम क्रोध किया कुत्ते की पूछ के तो ले और भी दृष्टि तो से कुत्ते की पूछ को भी सीधा किया जा सकता है यह असंभव बात नहीं है ऐसी विज्ञान की चीज जोड़ा था कुत्ते की कुछ सीधी कैसी नहीं होगी जो चीज मुड़ती है वो सीधी भी हो सकती है नहीं समझा दर्शन पर क्या आप तो कितने कड़े संस्कार हों उसको हम विज्ञान से योगाभ्यास से ईश्वर भक्ति से जला के रखें इसलिए इन बातों को याद रखना है अब समय पर्याप्त होता जा रहा है ये गंभीर विषय है और रोचक बना के समझाने का प्रयास किया और याद रखना इन बातों को याद रखते हुए विचरते जाइए ऐसे ही पढ़ते जाइए आदि समाज के सत्संग में आते जाइए कालांतर में आप पैसे दिखाई देंगे बड़ा वैज्ञानिक कैसी शांति आपको शरीर की बातों को मत हूं मानसिक स्तर पर जो क्लेश पैदा होते एक बात सुन ली आपने अभी अभी दूर बात से क्या सुन ली आपका पुत्र बहुत बीमार हो गया क्या हुआ पर पसीना पसीना क्या वो बोलना भी बंद हो जाएगा और वो करने लगे वही घटना सुनते ही वो व्यक्ति इतना घबराता है इतना क्लेश होता होता नहीं होता यहां तक नहीं हृदय गतिबद्ध होकर मर भी जाता है दिल्ली में बाढ़ आई थी एक बार उसमें आदर्श नगर डूब गया फिर माडे टोन में घुस गया पानी फिर भंडार था पूरियों का चने का उसमें भिजा भुजा पानी चने का क्या भाव आप जानते हैं फूल ने मारा जोर जरा उसकी कोटी पड़ गई कोटी पड़ गई उसको पता चल गया या देख ली हृदय बंद होकर खाता मानसिक क्लेश कैसे पीसते हैं योगा शिक्षण होता जब की घटना होता है चित्त वृत्ति जरूर कर लो चोट लगेगी नहीं मानसिक चोट बिल्कुल नहीं प्रयोग करके देख लो आप तो आप आज इस संपन्न समारोह में भाग ले रहे हैं सुनाने में सुनने में हम जो जानते हैं समझा सकते हैं पूरा प्रयास किया ये शक्ति ईश्वर की है हमारी शक्ति तो नाम मात्र की है ज्ञान बल बुद्धि इंद्रिया भोजन और सोना चांदी भूमि सूर्य ईश्वर का अनुपति है वेदों का दिए उसके आधार पर हम करते और हमारा भला हुआ इससे इसे आपका भी हम भला करना याद रखना देश जाति के लिए हमको करोड़ रुपया चाहिए याद रखना करोड़ रुपया तो पूछे पर बदले की भावना है हमने ये काम किया है एक पैसा दे दो हम कभी ये नहीं करेंगे या समझ में आया निष्काम भावना को लेकर चलते हैं और निष्काम कर्म ही व्यक्ति को योगी बनाने में समर्थ तीनों को कहो तो शुद्ध ज्ञान शुद्ध कर्म शुद्ध उपासना तीनों को जोड़ो तो निश्चित रूप में योगी बन जाएगा व्यक्ति एक भी अधूरा अध कचरा उल्टा रहा तो कभी भी योगी नहीं बन पाता व्यक्ति तो इसलिए आज भूगोल की स्थिति क्या है समाज की स्थिति क्या है राजनीति कैसे धर्म कर्म को उखाड़ के फेंक रही है संप्रदाय सच्चे धर्म कर्म को उखाड़ के फेंक रहे हैं क्या हम बड़े बड़े देखते रहेंगे हम नहीं देख सकते आप देखो मत देखो साथ दो मत दो जब तक हमारे शरीर में प्राण है शक्ति है विनाश करके छोड़ेंगे ज्ञान का अन्याय का अभाव का रुकने वाले बस हमको तो ये देन दे दो आपको कुछ नहीं चाहिए आपसे बोलो है दे दोगे आप ये साथ दे हाँ साथ हाँ वो पूरा मेरे साथ रहना हम अपनी टीम को उसी